और काफिरों ने कहा ईमान वालों से कि तुम हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाहों के बोझ को उठा लेंगे हालांकि वो उठाने वाले नहीं हैं उनके गुनाहों में से कुछ भी बेशक वो जरूर झूठे हैं